ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदश्च माणि श्रुतमन्वे मा भविष्यामि सत्यं भविष्यामि तन्मावतु तदवतु अवतु ऋग्वेदीय ऐत्रीय उपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार आरंभ हुआ है इसमें तीन अध्याय होते हैं प्रथम अध्याय के तीन खंड है तो प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार था आत्मा वही इदम एक अग्रे आशीर् इस सृष्टि के पूर्व काल में इदम जगत इदम से जगत को लेना है अब ये नाम रूप आत्मा जगत अभी स्थूलीभूत जगत जो नाम रूप प्राप्त है वस्तु सृष्टि के पूर्व काल में ये एक का स्वरूप नहीं था आत्मरूपी था आत्मा से अतिरिक्त रूप नहीं था कार्य बनने के पहले कारण रूपी होता है जो आत्मा में कल्पित है वही रूप था नान्यत किंचन विषक उससे विरुद्ध कोई पदार्थ नहीं था जो व्यापार करता हो ऐसा पदार्थ विषस्पर्धान धातु है आत्मा के आत्मा मात्र था उससे प्रतिप्रति मैंने द्वैत था ही नहीं उसका नामित किंतन सत सईक्षता लोकांग ऐसा ऐसे जो परमात्मा था सृष्टि के पूर्व में अकेला था असहाय था उसने विचार किया ईक्षण किया इन लोगों की सृष्टि पर्व ऐसा विचार किया ऐसा कहा था मंत्र में तो उसका दृष्टांत एक दिया था पूर्वावस्था इसके आत्मा ही था कैसा था अव्याकृत नाम रूप वाला ये जगत था वहां आत्मा शब्द से ही कहा जाता था वहां जगत शब्द का विषय नहीं बना हुआ था सृष्टि के पूर्व काल सृष्टि होने पर अज्ञानी की दृष्टि में दो रूप हो जाता है अधिष्ठान रूप भी है और वस्तु रूप भी है तो आत्मा शब्द का विषय भी बनता है अज्ञानी को और घटपटादि वस्तु शब्द का विषय बना हुआ दो रूप में है पूर्व में एक ही रूप दिखाई देता था आत्मा ही था अभी अज्ञानी की दृष्टि में दो रूप है किंतु विवेकी की दृष्टि में तो एक ही रूप है कल्पित पदार्थ की अपने अस्तित्व कुछ भी नहीं है आत्मा ही है विवेकी दृष्टि में ऐसा भाष्य में इतना अर्थ कर दिया था उसी के आगे बढ़ाना चाहते हैं टीका में कहा उत्तम अर्थम दृष्टान्त विषय में ये जो कहा था सृष्टि के पूर्व में एक ही रूप था वहां दो दो विषय भी नहीं था दो ज्ञान भी नहीं होता आत्मा ही कहा जाता ज्ञानी अज्ञानी सबके दृष्टि में एक ही था किंतु तो सृष्टि होने के पश्चात अभी दो रूप हो रहा है अज्ञानी के आत्मा भी है जगत भी है अज्ञानी की दृष्टि में दो रूप है दो रूप में विभक्त दिखाई पड़ता है ज्ञानी की दृष्टि में तो एक ही रूप है वो जो कहा था भाष्य में उसी विषय को दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं उत्तम अर्थम दृष्टांत विस्तार करते हैं दृष्टांत कर जैसे यथा करके राशि में यथा सलीला पृथक नाम रूप व्याकरणात् प्राप्त जल से जब फेन अलग होता है उसके पूर्व अवस्था में सलीला फेन नाम रूप व्याकृत फेन नाम और आकार फेन का नाम और आकार व्याकृति से पहले फेन निकलने के पूर्व अवस्था जल से निकलना है उसमें फेन को पूर्व अवस्था में सलीला एक शब्द प्रत्येक गोचर में उस काल में एक ही शब्द का विषय बनता था सलीला जल ही कहा जाता था वहां फेन नाम भी रहता फेन की आकृति भी रहती उस काल में सभी लोग जल बोलते थे उसमें किंतु जल से जब फैन अलग हो जाता है उस काल में अज्ञानी की दृष्टि में दो वस्तु होता है जल अलग है फैन अलग है ऐसा हो जाता है ये भाष्य में कहा था यथा शरीरात पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात प्राप्त जल से नाम रूप फैन के नाम रूप व्याकरण होने के पूर्व अवस्था में ही का शब्द प्रत्यय गोचरम सलीला एक ही शब्द का ज्ञान एक ही शब्द का प्रयोग होता था और एक ही शब्द जन्य ज्ञान का विषय जल इतना ज्ञान होता था गोचरम में फेन वहां फेन नाम नहीं था हाँ, सलील शब्द से ही फेन को कहा जाता है किंतु यदा सलीला पृथक नाम रूप भेद व्याकृतम भगवती जब ये फेन जब सलील से जल से पृथक नाम रूप भेद से व्याकृति हो जाता अलग हो जाता है झाग निकल गया समुद्र में ऐसी स्थिति में व्याकृतम भगवती तरा सलीलम फेनम च उस काल में दो दृष्टि हो जाती है दो शब्द प्रयोग होगा एक को सलील बोला जाएगा एक को फेन बोला जाएगा ठीक है ज्ञान भी उसी प्रकार का सलिल ज्ञान एक फेन ज्ञान दो ज्ञान हो गया पहले एक ही ज्ञान था एक ही विषय था जल ही बोला जाता था फैन निकलने के पहले जब फैन निकल आया तो दोनों तो आप ये वही थी क्या एक शब्द और वहां विवेकी के दृष्टि में फैन नहीं होता वहां भी सलील एक शब्द का विषय भी रहता है तद्वत उसी प्रकार यहां भी समझना फेनम के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी थी पास टिप्पणी थी कहते फेनम में नपुंसक लिंग यद्यपि नहीं होना चाहिए ये टिप्पणीकार कह रहे हैं यद्यपि डिंडीर अब्दि कफ फेन इति अमरेण पुष्पम एवं फेन शब्द से सिद्धम कहते अमरकोशकार ने फेन का तीन नाम दिया है फेन होता है एक डिंडीरा नाम है और <clears throat> अवधि कफ नाम है समुद्र का कफ है वो वो नाम है फेन का नाम है तीसरा फेन नाम है पुलिंग में प्रयोग हुआ है फेन शब्द फेन ऐसा प्रयोग किया अमर कोश का डिंडीर अब्धि कप फेन इति अमरेण पुष्प में एक फेन शब्द सिस्टम पुलिंग में ही प्रयोग किया है फेन शब्द को अमर कोश का फिर यहाँ फेनम भाष्य का आपने कैसे प्रयोग कर दिया नपुंसक में प्रयोग है यह तथापि है तो पुलिंग में प्रयोग किया है अमर कोश का आपने तो फेना बोला हुआ है तथापि अस्मादेव शिष्ट प्रयोग आदि यही प्रयोग के कारण यहाँ थेनम शब्द मिल रहा हमको भाष्यकार ने प्रयोग किया है थेनम ये शिष्ट पुरुष का प्रयोग होने से अस्मादेव शिष्ट प्रयोग आदि शिष्ट प्रयोग है थेनम शब्द यहाँ होने से अर्धर्चादि कम अश्य कल्पन थेन शब्द अर्धर्चादि गण में है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि अर्धर्चादि में अर्धर्चाद या पुंशीचा ऐसा सूत्र है अर्धर्चादि गण में जो शब्द आता है वो कुलिंग में प्रयोग होता है नपुंसक में होता है वहां अपथम नपुंसकम पूर्व सूत्र होता है नपुंसकम आता है और उत्तर सूत्र है अर्धताज है से तो पुलिंग नपुंसक दोनों होता है मानना पड़ेगा ये प्रयोग के आधार पर अमरकोश का आपने तो एक ही लिंग में प्रयोग किया है फेरा शब्द को पुलिंग में यह टिप्पणी का ठीक है देखें अत्र आत्म शब्द व्युत्पत्ति बलात् जो आत्म शब्द की व्युत्पत्ति चार प्रकार से स्मृति में बताई यच्चापनोति दादत्ते यज्जाति विषय यह यच्चाश संस्थो भाव तस्मात की तीर्थ है आत्म शब्द का व्युत्पत्ति ऐसे बताया है जो यच्चापनोति सबको व्याप्त करता है व्यापक है इसलिए वो आत्मा का एक अर्थ है यदादत्य वर्तमान काल में सब विषयों का ग्रहण करता है शब्द स्पर्श रूपरस का ग्रहण करता है इसलिए आत्मा का यच्चात्म विनादन यच्चाति प्रलय काल में सबको समेट करके अपने में खा के सो जाता है सुशुद्ध में कुछ भी नहीं है सबको खा पी करके सो जाता है प्रलय काल में इसलिए यज्ञाप्ति विषयान विहार यच्चाश संतो भाव जो निरंतर जिसका अभाव कभी नहीं होता हमेशा होता है इसलिए उसको अतः आत्मा बनाया गया यही है ठीक आप यही बोल रहे हैं यहाँ आत्मशब्द की व्युत्पत्ति बताई थी भाष्य में अत्र आत्मशब्द व्युत्पत्ति बलात् यहां पर आत्मशब्द की जो व्युत्पत्ति दिखाई चार प्रकार की जो व्युत्पत्ति दिखाई है आपनोति आत्मा अतीति आत्मा आदत्य आत्मा हाँ, अतते इति आत्मा चार व्युत्पत्ति दिखाई हुई है व्युत्पत्ति के बल से सर्वज्ञादि शब्द उपलक्षित कोई जो आत्मा के व्युत्पत्ति के बल से क्या कहते हैं जो सर्वज्ञ होगा सर्वशक्ति होगा भाष्यकार ने प्रयोग किया था उसी को आत्मा कहा जाता है अजार अमर अमृता आत्मा कहा जाता है कहा था तो सर्वज्ञ आदि शब्द से उपलक्ष्य जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि भाष्य में दिया है आत्मशब्द की व्युत्पत्ति के बल से उसको सर्वज्ञ कहा है सर्वशक्तिमान कहा है उसके बल पर सर्वज्ञानी होता है देखो माया विशिष्ट ब्रह्म सर्वज्ञ होता है सर्वशक्तिमान वही होता है माया विशिष्ट सबल ब्रह्म बोलते हैं माया विशिष्ट बोलते हैं माने सृष्टि के पूर्वकालीन जो परमात्मा का स्वरूप है तो शक्ति विशिष्ट होगा तभी तो सृष्टि करेगा तो शक्ति विशिष्ट है सबल ब्रह्म है उससे उपलक्षित होता है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा या आत्मा का अर्थ वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा ही लेना है क्योंकि तो बाच्यार्थ बनाना है सविशेष को लक्ष्यार्थ बनाना है विशेष को ये बता रहे अत्र आत्मशब्द व्युत्पत्ति बलात् इस मंत्र में जो आत्मशब्द की व्युत्पत्ति आत्मा वही आया तो उसकी व्युत्पत्ति बताई भाष्य टीका में कुछ व्याख्या के बल पर सर्वज्ञ आदि शब्द शब्द भाष्य में जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति अद्वय अजर अमर अमृता इत्यादि बोला था ये इससे ये जो ये तो होता है आपका सविशेष आत्मा होता है सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वम जानाति सर्वज्ञ निर्विशेष जानता नहीं है सविशेष जानेगा सर्वशक्तिमान होता है सविशेष उसके सर्वज्ञादि के शब्द के द्वारा उपलक्षित आत्मा बाच्य आत्मा नहीं लेना सर्वज्ञादि का बाच्य आत्मा नहीं लेना उपलक्षित आत्मा उसके द्वारा उसकी संबंधी माने सविशेष के संबंधी निर्विशेष है वो निर्विशेष से सविशेष बना हुआ है अपलक्षित सत्य ज्ञान अनंत रूप है यहां आत्मा शब्द का अर्थ ये लेना है इस मंत्र का आत्मा का अर्थ ये लेना है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म जो कहा उसको लेना है ऐसा लेना छांदोग में भी ऐसे ही आता है सदैव सौम्य मगर आश्रित का अर्थ वही है सब का अर्थ तो वही लेना है सब शब्द तो होता है सृष्टि के पूर्वकालीन है विशिष्ट को बोल करके लक्ष्यार्थ में जाकर के सब लेना वेदांत में विशिष्ट में तात्पर्य नहीं निर्विशेष में तात्पर्य है किंतु जहां जहां सृष्टि प्रकरण में आएगा तो सविशेष आएगा उसके द्वारा उपलक्षित होने वाला निर्विशेष ये लेना होगा ये कहा तो यहां आत्मा शब्द का अर्थ सत्य ज्ञान अनंत रूप को लेना है माने सविशेष तो वाच्य बना करके लक्ष्यार्थ में पहुंचना है निर्विशेष में अखंड एक रस आत्मा उपक्षिप्त या अखंड एक रस आत्मा कहा गया है यह आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आशेत नान्य किंचन विशद सूत्र ये शब्दों के द्वारा ये निर्विशेष ऐसा आत्मा उपक्षेप किया है अर्थ से लिया गया है एक तस्व अर्थ से दृढ़ीकरणार्थ उसी आत्मा के विषय में जो आया हुआ है उसी को दृढ़ करने के लिए मजबूत उसी विषय को फैलाने के लिए एक आदि उसी ने एक कहा उसी आत्मा को विषय एक एकम एव और अन्य विशद नास्ती कहा उसी के दृढ़ करने के लिए अन्य कुछ भी नहीं था वही एक ही था ऐसा कहने के लिए एक तस्व आत्मा तस्व अर्थ से जो आत्म निकला हुआ अर्थ निकला है उसी को दृढ़ करने के लिए एकादि पदानी एक पद है एव पद है नान्य विषद विषद पद है इत्यादि कहा तत्र एक इति आत्मांतरा भाव उच्चते एक शब्द के द्वारा एक आत्मा तो हमारा वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा दूसरा आत्मा भी रहा होगा उस काल में एक कहने से दूसरा नहीं हो सकता आप अन्य आत्मा का अभाव दिखाया एक पद के द्वारा मैंने सजातीय भेद का निराकरण किया एक शब्द के द्वारा एवं अन्य वृक्षाद एकत्व की शाखादिवीर नानात्मत्वध वृक्ष एक होता है किंतु शाखादि के द्वारा वह नाना रूप हो जाता है वृक्ष शाखा नहीं है वृक्ष पत्ता नहीं भेद आता है सबका शाखा का भेद पत्ता का भेद फल का भेद स्वगत भेद हाँ, माने सावैव रहा होगा आत्मा यह शंका आ सकती है जैसे वृक्ष आदि होते एक होने पर भी भेद आता है उसमें इस प्रकार सावैव होगा आत्मा कहते उसका निषेध करने के ये पल लगाया स्वगत भेद के निषेध के लिए कहा एक इति एवं इति अनैना वृक्षाद भी वृक्षादि एक होने पर भी वृक्ष में देखा है व्यतिरिक दृष्टान है एक शाखादि भीर नानात्मत्व शाखादि के द्वारा नाना आत्मा हो जाता है वृक्ष शाखा विशिष्ट वृक्ष अलग है वृक्ष अलग है ऐसा हो जाता है एक आत्मनो नानात्मत्वाभाव उच्चते एवं शब्द है ना एक एकस्यापि आत्मनो नानात्मत्वाभाव नानात्म नहीं है वो एक ही है स्वगत वेद का अभाव दिखाया है कहा आगे नान्यत किंचन विशद शब्द के द्वारा विजातीय भेद का अभाव दिखाएंगे ये कहना होगा आगे टीका सजातीय भेद स्वगत भेद निराकरणार्थत्व न पदद्वयम एक शब्द और एव शब्द आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आशीत सजातीय भेद और विजातीय भेद के खंडन करने के लिए दो पद दे दिया गया एक शब्द पद और एव शब्द सजातीय भेद स्वगत भेद निराकरणार्थत्व पद द्वयम ये दो पद दिया गया एक और एवं इति अभिप्रत्य ऐसे स्वीकार करके विजातीय भेद निराकरणार्थत्व नान्यत किंचन इति पदम व्याचस्ते विजातीय भेद की नहीं माने आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ भी नहीं था उस काल में बताना है ऐसा कहने के लिए नान्यत किंचन पद दिया हुआ है कहते हैं नान्यत नान्यत किंचन निषद मंत्र है उसका अर्थ करने जा रहे हैं भाष्य में कहते हैं नान्यत किंचन अन्य तो किंचन न ये होगा अन्य कुछ भी नहीं उसका आत्मा ही था अन्य कुछ नहीं था ये अर्थ आता है नान्य किंचन न किंचित अभी विशत माने निविशत विषस्पर्धायाम धातु है माने विरोधी प्रतिद्वंदी को विशत बोलते हैं वैसे उस आत्मा का प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं था उसका अभी तो प्रतिद्वंदी बैठा है घट पट मठ बन के बैठा हुआ जगत है अभी सृष्टि काल में उस काल में ऐसा नहीं था नान्यत किंचन विशत न किंचित अभिविशत मैंने निमिषत व्यापारवत इतर व्यापारवान पदार्थ कुछ भी नहीं था उस काल वो आत्मा को छोड़ करके कोई वस्तु व्यापारी मैंने क्रियाशील पदार्थ नहीं था अभी तो क्रियाशील है सारे उस अवस्था में सृष्टि के पूर्व अवस्था में क्रियाशील वस्तु कुछ भी नहीं थे आत्मा छोड़ करके ये आत्मा ही था अथवा इतरत्वा व्यापार वाला हो या व्यापार रहित हो दोनों नहीं थे आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ व्यापार विशिष्ट भी नहीं था व्यापार रहित भी नहीं था कुछ भी नहीं एक आत्मा ही था ये तीन पद के द्वारा ये सिद्ध हुआ है एक एवं नान्यत किंचन विषय तो उस काल में एक ही आत्मा था आज ये जगत बना हुआ है ऐसा दिखाई पड़ता है तो कोई भी नहीं एक ही था इसके मतलब सारा कल्पित सिद्ध हो जाएगा मटेरियल भी नहीं था इसका कुछ उस काल में अकेला ही था रज्जु में सर्प बनने के लिए कोई मटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं होती अज्ञान एक पर्याप्त है रस्सी का अज्ञान पर्याप्त है सर्प पैदा करने के लिए ऐसे यहां भी है आत्मा का अज्ञान से जगत बनता है हमारे हमारे लिए जगत बना है सबको जगत नहीं है जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में जगत नहीं है हमें आत्मा का पहचान नहीं है माने अज्ञान है इसलिए हमें जगत दिखता है अरे आत्मा हमको जगत रूप में दिख रहा है रस्सी दिखता है अज्ञान को सर्प रूप में यह सिद्ध होना मिथ्या है वास्तव है ये सिद्ध होना है यही होना है ये कहा नान्य किंचन यदि न किंचित अभी मिशद माने निमिषद व्यापारवत इतर नी लगा करके भाष्यकार आपने बोल दिया विशद का अर्थ निमिषद व्यापारी भी नहीं था व्यापार रहित वस्तु भी नहीं था आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था उस काल में अभी जो इतना बड़ा प्रपंच बना हुआ है उस काल में कुछ नहीं था एक व्यतिरेकी दृष्टांत देते हैं यथा सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधान जैसे सांख्य मत में तापिल सांख्य में सृष्टि के पूर्व अवस्था में एक प्रकृति होती है पुरुष होता है वो जो प्रकृति अनात्मा के पक्षपाती है पुरुष के तरफ अनात्मा के तरफ अनात्मा सृष्टि करने वाला प्रकृति है जिसको प्रधान शब्द से बोलते हैं उनके यहां आत्मा से अतिरिक्त वस्तु होता है क्या तो हमारे यहां श्रुति बोलती है कुछ नहीं था आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं था ये व्यतिरिक दृष्टान्त यथा संख्या नाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधान अनात्मा को पक्षपात करने वाली जो स्वतंत्र प्रधान है पुरुष के अधीन नहीं है आत्मा के अधीन नहीं है वो प्रधान माने प्रकृति को स्वतंत्र है वह स्वतंत्र स्थिति करती है वो प्रकृति ऐसी होती है अथवा काणादों के मत में वैशेषिक के मत में नैयायिकों के मत में यथाच काणादान या कारणादान सब गया रकार हटा देना चाहिए काणादान अथवा जो कणाद मत है वैशेषिक मत है उनके यहां सृष्टि के पूर्व काल में चार भूतों का परमाणु अतिरिक्त रह जाते हैं आत्मा से अतिरिक्त वस्तु होता है सृष्टि के पहले पृथ्वी परमाणु जल परमाणु वायु परमाणु तेज परमाणु नित्य है उनके यहां सृष्टि की पूर्वावस्था में है वो आकाश है काल है दीघ है आत्मा है मन है ये सब नित्य पदार्थ होंगे सृष्टि के पूर्वावस्था में आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ है किंतु तो हमारे यहां ये मंत्र बोलता है कुछ भी नहीं था यथा काणादान अणवो जैसे मत में वैशेषिक मतलब अणु रहते हैं सृष्टि के पूर्व काल में स्थूल जगत बनने के पहले परमाणु थे पृथ्वी के वही ईश्वर की इच्छा से जुड़ा है परमाणु जुड़ करके अभी आज कार्यशील पृथ्वी को नहीं है मैंने जब प्रय काल आएगा न्याय नई आयुकों के मत में ये टूटता जाएगा टूटता गया टूटता गया टूटता गया जहां जा करके टूटना बंद हो जाएगा उसको परमाणु कहते हैं वो बिखरे हुए अनेक हो जाते हैं ये एक है अभी फूल पृथ्वी एक है किंतु प्रलय काल में ईश्वर की इच्छा होगी प्रलय हो जाए फिर वह क्रिया होने लग जाएगी अपने आप विरुद्ध क्रिया टूटते टूटते टूटते दो दो भाग बना फिर दो टूटा चार भाग बना करते करते गए गए गए जाके त्रसिरुण हो जाएगा जो ये माइस्कोक्रोप क्या बोलते हैं उसके द्वारा जो देखा जाता है वो त्रसिरणु है वो उसको त्रसिरणु शब्द माने किसी यंत्र के द्वारा जो दिखाई दिया जाए उसको त्रसिरणु बोलते हैं जैसे प्रातकाल के वक्त होगा कि जो रोशनदान से कुछ लहरें आ जाते हैं सूर्य के किरण आ जाते हैं भीतर उसमें कुछ घूमता हुआ हमको लगता है छोटे छोटे कण घूमते हुए लगते हैं वो यंत्र बना हुआ हमारे लिए यहां अभी घूम रहा नहीं दिख रहा है तो सूर्य के किरण के कारण दिख दिखता है उसको त्रसिरण बोलते हैं यंत्र के द्वारा देखने वाला उसके फिर छठा भाग का हिस्सा होगा परमाणु वो तो त्रसिरण तीन द्रणु मिलकर बनता है और तीन द्रणु का दो दो होंगे दो परमाणु जुड़ के एक द्रणु बनता है त्रसिरण तक तो यंत्र के द्वारा मैंने प्रत्यक्ष का विषय हो जाता है उसके आगे द्रणु का परमाणु अनुमान का विषय होता है नहीं किंतु परलय काल में आत्मा भाई इदमेक अग्रे आश्रित उनके मत में नहीं होता आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ होते हैं परमाणु होते हैं ये कहा यथाच काणादान हो ये व्यतिरेकी दृष्टांत है जैसे वैश्विक के यहाँ अणु रहते हैं परमात्मा से अतिरिक्त आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है सांख्यों के यहाँ भी आत्मा से अतिरिक्त प्रधान है स्वतंत्र प्रधान है अनात्मा पक्षपाती परमाणु भी अनात्मा पक्षपाती है ये भी अनात्मा पक्षपाती तद्वत न तद्वत यह ये ऐसा नहीं समझना यहां माने वेदांत मत में क्या है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था ये कहना है आत्मा एक गमित आश्रित ये कहना है न तद्वत यह वेदांत में ऐसा नहीं है आत्मन यह अन्य आत्मना किंचित अभी वस्तु विद्यते आत्मा से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी नहीं होता उस काल में सृष्टि काल में सृष्टि के पूर्व काल में आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता माना सांख्यों के यहाँ आत्मा से अतिरिक्त प्रधान होता है वैश्य के वहां आत्मा से अतिरिक्त अणु होते हैं परमाणु होते हैं किंतु तो यहां नहीं है ऐसा वस्तु वो दोनों वस्तु उनके अनात्म पक्ष पाती है किंतु यहां ऐसा कोई वस्तु नहीं एक कहा किम तरही पूर्व पक्ष शंका करता है फिर क्या क्या था फिर हाँ, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं थे तो फिर क्या था सृष्टि के पूर्व काल में तो कहते हैं आत्मा एक एवं एक आशिक आत्मा एक ही आत्मा था बस इति अभिप्राय यही अभिप्राय है यह मंत्र का अभिप्राय होता है एक ही आत्मा था अभिप्राय अतिरिक्त वस्तु कुछ भी नहीं था माने बड़े मटेरियल नहीं थे कोई भी मटेरियल बनने वाला नहीं था माने वैशेषिक वहां ईश्वर को निवृत्त का कारण माना हुआ है उपादान कारण परमाणु होते हैं उनके यहाँ परमाणु से कार्य होना है ईश्वर की इच्छा से परमाणु जुड़ जाना है ऐसा शुरू होता है कार्य होता है और इनके यहाँ स्वतंत्र प्रधान है वहां ईश्वर की इच्छा की जरूरत है कि सांख्यों के यहाँ जब उसकी इच्छा होगी इन जीवों को भोग देना है तो सृष्टि करने लग जाएगा प्रधान उसमें उन्होंने दिया है दृष्टांत दिया है जड़ में कैसे प्रवृत्ति होगी कहा जैसे गाय के स्थान में प्रवृत्ति हो जाती है उन्होंने दृष्टांत भी दिया है बछड़ा चेतन होता है बछड़े की वृद्धि के लिए गाय के स्तन में दूध निकल आता है बछड़े को गाय देखती है तो स्तन भर जाता है तो तन जड़ है उसमें प्रवृत्ति हो जाती है चेतन के लिए ऐसे दृष्टांत दिया उन्होंने सांस तो स्वतंत्र प्रधान सृष्टि करती है वहां आत्मा से कोई लेन देन नहीं है प्रधान है वो प्रधान शब्द का अर्थ होता है सतगुण रजगुण तमोगुण का जो प्रलयावस्था प्रलयावस्था को जो स्तब्ध गुण है क्रियाशील नहीं है गुण वही गुणों के प्रधान कहा है प्रधान अतिरिक्त नहीं है तीन गुणों को जो साम्यावस्था है मैंने प्रलय काल में साम्य है उसको कहते हैं उस काल में प्रधान बोलते हैं जब उथल फुथल स्थिति आती है सृष्टि उस काल में गुण बोलने लग गए सतगुण रजगुण अनुगुण बोलने लग गए ऐसा बोलते हैं तो ये बता दिया उनके समान यहां पर कोई दूसरा वस्तु नहीं था मैंने समझो कि आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है स्वतंत्र वस्तु है दूसरा सृष्टिकर्ता उनके नैयायिक वैशेषिक यहां भी दूसरे आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है ऐसा यहां नहीं था ये कहा टीका से देखिए ननु जड़ प्रपंच से कारणभूता जड़ा माया बरतते आपके यहां भी तो एक माया तो है ना आपने कैसे बोल दिया अन्य कुछ नहीं था आपने बेकरी की दृष्टांत भी दिया भाष्य में कि जैसे सांख्य हो गया दूसरे वस्तु है आत्मा से अतिरिक्त काणाद हो गया दूसरे वस्तु है परमाणु है हमारे यहां कुछ नहीं बोला कैसे बोल दिया ये शंका है ननु जड़ प्रपंच से कारण ये जो प्रपंच जो बनना है जड़ है इसमें जड़ता को देखते हुए कारण भी जड़ होगा इसका जैसे कारण से बनेगा वैसे कार्य होगा तो जड़ता यहाँ जड़ है जड़ प्रपंच जड़ है तो इसका कारण है जड़ वो जड़ एक माया है इस शंका है ना जड़ प्रपंच से कारण भूता जड़ा माया जड़ माया है वर्तते यदि कथम विजातीय भेद निषेध उस काल में विजातीय भेद का निषेध का ही होगा आत्मा का सजातीय भेद तो नहीं सुगत भेद नहीं है ठीक है किंतु विजातीय नान्य किंचन निषेध करके माया का कैसे निषेध करोगे आप विजातीय भेद तो है उस काल में माया है वहां वो चेतन में है जड़ है तो चेतन से विजातीय है वो विजातीय भेद तो है ये शंका है इसके उत्तर में कहा मिशत व्यापार करने वाला नहीं व्यापारी वस्तु कुछ भी नहीं था उसका आत्मा से अतिरिक्त व्यापारी नहीं था कहा मिसर टीका में कहते हैं माया या सत्व ठीक है माया है उस काल में हम मानते हैं माया को लेकर चलते हैं माया या सत्व भी तदानिम व्यापारा भावा सृष्टि के पूर्व काल में उसके व्यापार नहीं है माया का कोई व्यापार नहीं व्यापाराभावात व्यापार व तो अन्य से निषेध संबंधी व्यापार वाला जो अन्य होगा उसका निषेध हो जाएगा हाँ। विशत का अर्थ व्यापारी व्यापार वाला नहीं था कहा तो व्यापारी पर क्यों सृष्टि के पूर्व में आएगा व्यापार नहीं है वो चुपचाप है सृष्टि काल में व्यापार होगा ना उस काल में व्यापार नहीं है इसलिए कहा अभी टीका हम फिर शंका ननु निर्व्यापाराया अभी तस्या अन्य सत्य आत्मशब्द उत्तम तस्य अखंड रसई का सत्वम न सिद्धे टीका शंका होती है कि ना व्यापार आया अभी निर्व्यापार है निर्व्यापार होने पर एक माया तो है ना आत्मा से भिन्न पदार्थ तो है ना फिर भी अखंड एक रस आत्मा कैसे सिद्ध होगा सृष्टि के पूर्व काल चाहे भले व्यापार न हो किंतु एक वस्तु तो है आत्मा से अतिरिक्त ही शंका है न आया अभी तस्या मायाया अन्य अन्यस्या मायाया सत्य होने पर ये चो ये तो, तो लगा हुआ है सत्व लिखा हुआ है ये चो तो लगा हुआ है सत्य <coughs> शब्द उत्तम जो आत्मशब्द की जो आपने व्युत्पत्ति में कहा था आत्मशब्द का बाच्यार्थ तो सविशेष ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहा उसके आगे आगे एक अज अजर अद्वय अमर अद्वय इत्यादि कहा था निर्विशेष को बताया था लक्ष्यार्थ में वो अखंड एक रस आत्मा कैसे सिद्ध होगा अद्वय कैसे सिद्ध होगा द्वैत है वहां भले व्यापार न हो किन्तु माया तो है ना निर्व्यापार माया है उसका ये शंका है क्योंकि निर्वार निर्व्यापार आय भी तस्या मानी माया या अन्य सत्य आत्मा से अन्य माया होने पर आत्मशब्द उत्तम आत्मशब्द से कहा गया जो क्या कहा था अखंड एक रस आत्मा कहा था अद्वैत एक आत्मा कहा वो कैसे सिद्ध होगा ये शंका है तो उत्तर देते हैं इतरद्वा कह दिया इतरद्वा निर्व्यापार भी नहीं था आत्मा से अन्य व्यापारी भी नहीं था निर्व्यापार भी नहीं था भाषिकार इतरद्वा बोल दिया अन्य भी नहीं कैसे होगा अन्य अन्य है तो है उसका वही तो देते हैं कैसे देते हैं आगे निर्व्यापारम बा इतर माने व्यापार बदवा अथवा निर्व्यापार बदवा दोनों नहीं थे आत्मा ही था व्यापार फिर शंका आएगी अरे बाबा माया जीवित है व्यापार हो चाहे निर्व्यापार हो एक वस्तु अन्य तो है सृष्टि के पूर्व काल में आत्मा से अतिरिक्त तो है ये शंका है दोनों माया तथा विधा अस्थि निर्व्यापार माया तो है आत्मा से अन्य वस्तु तो है फिर एकम एव अद्वितीय कैसे सिद्ध होगा अखंड एक आत्मा की सिद्धि कैसी होगी शंका तो ज्यों क्यों है यही शंका है ननु माया तथा विदावन निर्व्यापार है व्यापार रहित भले वो उस काल में फिर भी अस्थि निर्व्यापार माया तो है फिर भी कृषि काल में व्यापार हो ना पूर्व व्यापार में फिर भी तथा विदावन निर्व्यापार व्यापार रहित माया है पुनः पूर्वक तो वही दोष आ गया आपका द्वैत हो रहा है आत्मा से अन्य वस्तु है नान्य किंचन मिश्र कैसे बनेगा वही पूर्व दोष पूर्व दोष माने पूर्वोक्त दोष माने अखंड एक रसत्व असिद्धि ऐसे दोष की सिद्धि नहीं हो पा रही है ऐसा दोष लगा हुआ है अभी भी दूसरी वस्तु है वस्तुअंतर दिख रहा है ये शंका आ गई शंका करके उत्तर देते हैं मिशत इति अनैना या मिशत पद का अर्थ विशेष करना होगा नान्यत किंचन मिशत मिशत का अर्थ क्या करना है मिशत इति ना पदेना जो मिशत पद है इसके द्वारा मिशत इति अनैना स्वतंत्र स्वतः सत्ता का उच्चते निषद पद का स्वतंत्र स्वतः सत्ता वाला हमारे यहाँ की माया स्वतंत्र नहीं स्वतः सत्ता वाली भी नहीं है माया एक शक्ति है शक्तिमान के अधीन होती है शक्ति मेरे पास दस किलो उठाने की शक्ति है मैं चाहूं तो उठाऊंगा शक्ति का प्रयोग करूंगा तो नहीं शक्ति काम नहीं करेगी उठाएगी नहीं वो मैं मेरे बिना शक्तिमान के बिना शक्ति काम नहीं कर सकती स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है वो ये विषय पद के अर्थ ये करना हमको है ये कहते हैं निषद इति अनेन स्वतंत्र स्वतः सत्ता को उचित निषद पद का अर्थ होता है स्वतंत्र हो स्वतः सत्ता वाला हो यह हमारी माया स्वतंत्र भी नहीं है स्वतः सत्ता वाली भी नहीं है पर सत्ता वाली दूसरे की सत्ता में जीवित है माने शक्ति जो होती है शक्तिमान के सत्ता में जीवित है शक्तिमान हो तो शक्ति होगी नहीं तो उसकी अस्तित्व दिखेगा ही नहीं शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व तो नहीं दिखता स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है स्वतंत्र शक्ति अलग काम नहीं कर सकती है शक्तिमान व्यक्ति में होकर के काम करती है इसलिए गीता के नवम अध्याय का माया अध्यक्ष प्रकृति प्रकृति काम करती मेरी अध्यक्षवाद ऐसा बोला तो निमिषत इति पर स्वतंत्र स्वतः सत्ताकम उच्चते निषद पद का अर्थ ये होगा स्वतंत्र हो स्वतः सत्ता वाला हो ऐसा नहीं था ये कहा हमारी जो माया है परतंत्र है परसत्ता वाली है इसलिए ये यहां पर अद्वय में कोई खर्च नहीं आएगा ये बोलते हैं अच्छा तथा विधस्य निषेध है निषेध यदि व्यतिरिक दृष्टांत देना इस प्रकार का जो तथा विधस्य निषेध इति उस प्रकार के निषेध माने स्वतंत्र हो स्वतंत्र सत्ता वाला हो ऐसा नहीं था करने के लिए निषेध किया इसके लिए व्यतिरिक्त दृष्टांत देते हैं जैसे उनके यहाँ दूसरे के यहाँ स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता वाली दूसरे पदार्थ है वैसे पदार्थ हमारे यहाँ नहीं है ये कहना जैसे दूसरे के यहाँ सांख्य के गया आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला और स्वतः सत्ता वाला प्रधान है न्यायिकों का स्वतंत्र सत्ता वाला स्वतंत्र पदार्थ परमाणु है ऐसा हमारे यहाँ नहीं ये एक तथा विदस्य माने इसका स्वतंत्र हो और स्वतः सत्ता वाला हो उसका निषेध किया गया यहाँ नान्य किंचन विषद के द्वारा निषेध किया इति व्यतिरिक दृष्टान्त व्यतिरिक दृष्टांत बताया यथा सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधानम देखा जैसे सांख्यों के यहाँ स्वतः सत्ता वाला स्वतंत्र एक प्रधान है ऐसे पदार्थ यहाँ नहीं था ये बोलना टीका है अनात्म पक्षपाती माने क्या है आत्मशक्ति तया अंतर्भूतम अंतर्भूतम आत्म पक्षपाती उचित तत्व आत्मा की शक्ति होने से आत्मा के अंतर्भूत हो जाती वो माया शक्ति शक्तिमान से बाहर नहीं जा सकती है इसलिए हमारे यहां तो माया आत्म है आत्मा की शक्ति है वो हम शक्ति मानते हैं उन्होंने आत्मा से अतिरिक्त माना हुआ है स्वतंत्र माना हुआ है ये कहा आत्मशक्ति तया वो माया जो है ना सृष्टि के पूर्वकाल में जो माया है वो माया आत्मा की शक्ति होने से आत्मा ने एवं अंतर्भूतम शक्ति शक्तिमान में अंतर्भूत हो जाती है अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं होती है शक्ति की आत्मा में अंतर्भूत हो जाने से आत्मा पक्षपाती तुच्यते हमारे यहां की माया को आत्म पक्षपाती कहा जाता है तद भिन्नत्व उनके यहां उसे भिन्न है आत्म पक्षपाती नहीं अनात्म पक्षपाती है वो क्यों वो शक्ति रूप से नहीं मानते हैं एक स्वतंत्र वस्तु मानते हैं प्रधान को और शंका होगी शक्तित्व तो भी चलो शक्ति मान लिया आपने फिर भी एक शंका आ जाती है आपने कहा आत्मा की शक्ति हो इसलिए सांख्यों के प्रधान जैसा नहीं है वो स्वतंत्र मानते हैं हम इसको आत्मा के अधीन मानते हैं आप शक्ति तो शक्तिवान के अधीन होती है फिर भी प्रभा करके मत से दोष आएगा शक्तित्व भी प्राभाकराणाम युव स्वतः सत्व सात प्रभाकर के अनुयायी जो है ना उसको प्राभाकर बोला है प्रभाकर से में प्राभाकरा प्रभाकर के अनुयायी उनके मत में क्या है शक्ति एक स्वतंत्र पदार्थ है न्याय में जब नैयायिकों ने सप्तई पर पदार्थ कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समय अभाव सप्तई पर पदार्थ पदार्थ सात ही हैं संसार के संपूर्ण भाव अभाव जितने भी वस्तु हैं सात विभाग में उन्होंने बांटा है छह भाव रूप है एक अभाव रूप है सात विभाग में कुछ बचेगा नहीं उसको सब आ जाए संसार के जितने भी होंगे ब्रह्मांड के भीतर वस्तु ये सात विभाग में आ जाएंगे न्याय पढ़ने वाला जानते हैं द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष संभाव अभाव सप्तव पदार्थ बोल दिया एवकार लगा दिया तो प्राभा करके मत आकर के वहां उठाई है शंका उठाई भाई शक्ति नाम के एक अष्टम पदार्थ है आपने सात ही पदार्थ कैसे बोल दिया शक्ति को स्वतंत्र मानते हैं लोग कैसे उन्होंने दृष्टांत भी दिया प्रभा करके मत से दृष्टांत दिया अग्नि में दाहक शक्ति है जलाती है अग्नि वो जलाना अग्नि अलग चीज है वो जलाने की शक्ति अलग है कैसा देखा है अग्नि जल रही है एक चंद्रकांत मणि लागे रख दिया पास में एक मणि होती है वो आने के बाद में अग्नि तो जल रही है तो दाहकता नहीं रहती अथवा किसी ने मंत्र कर दिया ऐसे हो जाता है अग्नि तो जल रही है आग जमगा त्यों है किंतु दाहकता नहीं होती अथवा कोई औषध का प्रयोग कर दिया उस स्थिति में दाहकता बंद हो जाती है दाहकता नाश हो गई किंतु अग्नि है इसके मतलब अग्नि के रहते रहते दाहकता नष्ट होना अलग चीज है वो दूसरी बात उस प्रतिबंध को मणि को हटा देंगे जिसके होने पर दाहकता नाश हो गई थी मंत्र को हटाएंगे औषध हटाएंगे फिर दाहकता पैदा हो जाती है इसके मतलब शक्ति अतिरिक्त है अग्नि से अतिरिक्त है तो अतिरिक्त पदार्थ है ऐसा उन्होंने शक्ति को कहा उस काल में नैयायिक ने उत्तर दिया है नहीं वहां पर हम जो मणि आदि जो रखा गया था अग्नि जलते हुए में उसको प्रतिबंधक माना प्रतिबंधा अभाव को कारण माना हुआ है मणि अभाव को हम कारण मानेंगे इसलिए अतिरिक्त शक्ति कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं ने उत्तर दिया हुआ है तो यहां प्रभाकर के मत को लेकर के कहा शक्तित्व भी चलो तो आप आत्मा की शक्ति मानते हैं माया को शक्तिमान से अतिरिक्त नहीं होती करके बोलते फिर भी अतिरिक्त है शक्ति शक्तिमान से अतिरिक्त होती है विवाह प्रभाकर के मत कुमारी भट्ट के शिष्य हैं प्रभाकर उनके अनुयायी को प्राभाकर बोला प्रभाकर से में प्राभाकरा उनके अतश्य माने माया स्वतः सत्वम स्वतः शक्ति सत्ता है उसकी शक्ति की स्वतः सत्ता मानते हैं एक स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं पदार्थ मानते हैं श्याम इसलिए व्यत्या कहते हैं नहीं स्वतंत्र नहीं था वेदांत की जो माया है स्वतंत्र नहीं आत्मा के अधीन है न स्वतंत्र प्रधानम ये कहा सांख्यम ज्ञान जैसा है वैसे प्रधान नहीं कहा ठीक है मैं आगे बोलते यथा सांख्यानाम प्रधानम असत्यभूतम स्वतः सत्तातम अस्तित्व जैसे सांख्यों के यहां प्रधान शक्ति नहीं मानते हैं प्रधान को शक्ति रूप से नहीं मानते हो अशक्ति भूतम अशक्ति स्वरूप है शक्ति नहीं मानते वो तो स्वतंत्र वस्तु मानते हैं शक्ति में तो गड़बड़ हो जाएगा शक्ति और शक्ति मान में भिन्ना भिन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है अनिर्वचनीय हो जाता है यथा सांख्यानाम प्रधानम अशक्तिभूतम जैसे सांख्यों के यहां प्रधान जो है शक्ति स्वरूप नहीं है वो अतिरिक्त है सत स्वतः सत्ता को स्वतः सत्ता यश्य सतः सत्ता बहुगुरी समाज है जिसकी सत्ता स्वयं है स्वतः सत्ता दूसरे की सत्ता में अधीन नहीं है दूसरे में आश्रित नहीं है स्वतः सत्ता वाला है प्रधान ऐसा है और काणादा नाम से वैशेषिक में अभी काणादा के यहाँ तथा विधा अनवसन वैसे उसी प्रकार के अणु है स्वतः सत्ता वाले वो तो शक्ति जैसे नहीं है परमात्मा के अधीन नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाले अनात्मा पक्षपाती है ऐसे है तथा विदम आत्म व्यतिरिक्तम निषद इति अनुद्यते निषिद्ध अनुद्य निषिद्ध इस प्रकार के कोई वस्तु नहीं था करके तथा विदम जैसे उनके यहाँ स्वतः सत्ता वाले हैं काणादव तो के यहाँ है सांख्यों के यहां है उस प्रकार के आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं था करने के निषद पद को अनुवाद करके निषद यदि अनुद्य ऐसी वस्तु का अनुवाद करके व्यापारी वस्तु जितने भी स्वतः सत्ता वाले की अनुवाद करके निषिद्ध थे न नान्यत किंचन मिशत निश्चित निषेध कर दिया जाता है माया तो न तथा भूता माया स्वतः सत्ता वाली नहीं है आत्मा से अतिरिक्त स्वतः सत्ता वाली नहीं है शक्ति शक्तिमान से अतिरिक्त काम नहीं कर सकती शक्तिमान में आश्रित होने पर ही शक्ति काम करेगी वो भी शक्तिमान की इच्छा से शक्ति का प्रयोग होता है माया तो न तथा भूता सांख्यों के प्रधान जैसा नहीं है माया और वैशेषिक अणु जैसा भी नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है न नौ का दोष है इसे कोई दोष नहीं है दूसरी वस्तु है करके दोष नहीं है या निषद शब्द के द्वारा स्वतंत्र सत्ता वाला वस्तु नहीं था आत्मा से अतिरिक्त ये कहा है इसलिए कोई दोष नहीं बता दीपिकायाम तो इसी की व्याख्या एक दीपिका टीका है उसमें दीपिकाकार ने ऐसा कहा करके बोलते हैं टीकाकार दीपिकायाम तो धातु नाम अनेकार्थत्व है ना दीपिका में धातु धातु नाम अनेकार्थ होने का कारण धातु नाम अनेकार्थ धातु के अनेक अर्थ होते हैं जो जो धातु का अर्थ में एक एक अर्थ निर्देश किया इतने अर्थ नहीं होता बहुत सारे अर्थ हैं धातु नाम अनेकार्थत्व तो है ना विशद इत धातु और आशित इत अर्थ होगा विशद का अर्थ आशित किया मिस धातु का अर्थ आशित अस धातु के अर्थ में कर दिया आशित अर्थ नान्यत किंचन आशित वाक्य अर्थ होता कुछ भी नहीं था ऐसा कहा नान्यत किंचन आश्रित ऐसा तो नहीं होगा माया तो है यहां तो नान्यत किंचन मिशत आश्रित करने से काम करेगा नान्यत किंचन मिशत आश्रित माने सत सत्ता वाला पदार्थ नहीं था ऐसा कहना युक्त है अन्य कुछ नहीं था कहना नहीं बन रहा है है माया है ने माया पड़ी हुई है सृष्टि के पूर्व दीपिका की इतनी व्याख्या सही नहीं होती दीपिकायाम तो धातु नाम अनेकार्थत्व धातु का अनेकर्थ होने के कारण विष धातु एक स्पर्धा अर्थ में विपरीत मैंने विरोधी अर्थ में होता है किंतु मिशत इत और आशित इत अर्थ होता है मिशत मतलब अर्थ आशित यहां तो अर्थ कर दिया कोई व्यापारी अव्यापारी ऐसा स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं था यह अर्थ किया है किंतु उन्होंने कहा मिशत का आशित करके नान्य किंचन अन्य कुछ नहीं था ऐसा कहते किंतु अन्य वस्तु है एक माया दिखाई पड़ रही है ठीक नहीं होता यहां कहना यह था कि माने स्वतः सत्ता वाला नहीं था यह कहने के तात्पर्य है उन्होंने ऐसा व्याख्या किया है एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं टिप्पणी कार झुंझला जाते हैं टीकाकार से इस उपनिषद में और प्रश्नोपनिषद दो बार टिप्पणी कार ऐसा बोल चुके प्रश्नोपनिषद में ऐसे वाक्य आया है मंगलाभाव देखो आनंदगिरी जी जब टीका लिखते हैं मंगलाचरण करते हैं इस उपनिषद में आनंदगिरी जी ने टीका मंगलाचरण नहीं किया प्रश्नोपनिषद में ऐसे शब्द आया मंगलाभाव मंगलाचरण नहीं है इस टीका में बाकी उपनिषद में मिलेगा ठीक है मंगलाचरण मिलता है आनंदगिरी का भाष्यकार करें न करें आनंदगिरी जरूर करते हैं मंगलाभावात व्याख्यान शैली वैचित्र आचरण और व्याख्यान शैली कुछ भिन्नता आ रही है आनंदगिरी तो इतना ही है अन्योन अनतिरिक्त के व्याख्या करते हैं अतिरिक्त भी व्याख्या कर रहे हैं आनंदगिरी की व्याख्या अन्योन अनतिरिक्त माने कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं जितना चाहिए उतना ही करते हैं यहाँ अधिक व्याख्या हो रहा पल्लवन ज्यादा है व्याख्यान शैली वैचित्र दो हेतु दे रहे हैं एक तो मंगलाचरण नहीं है इसमें आनंद गिरी जी का दूसरी बात इसकी व्याख्या अन्य उपनिषदों की अपेक्षा शैली वैचित्र है ये दोनों होने से पुरस्ताद एवं वृद्धम अभी अन्य वस्तु कुछ नहीं था करके निश्चय कर चुके हैं पहले पहले ये निश्चय हो चुका है होने पर भी इधानी अनया युक्ता ये तत्पष्टीपति फिर यहाँ इस युक्ति से फिर बताएंगे देविका ने ऐसे कहा वहां ऐसा कहा कहने जा रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि इदम नानंदगिरी कृपादाराम व्याख्यानम ये इदम व्याख्यानम आनंद कृपादाराम न यह आनंद का नहीं है ऐसा लगता है टिप्पणी कार ऐसा बोलते प्रश्नोपरिषद में भी ऐसे कहा है उस व्याख्या टीका टिप्पणी कार ऐसे कहा अन्य उपनिषदों में ऐसा नहीं बोलते क्यों उनकी व्याख्या शैली अलग है अन्यों ने अनतिरिक्त व्याख्या करते हैं संक्षेप जितना चाहिए उतना करते हैं किंतु यहां पर अतिरिक्त व्याख्या ज्यादा है एक दूसरी बात मंगलाचरण भी नहीं है इसलिए लगता है आनंदगिरी की टीका नहीं है ऐसा लगता है टिप्पणीकार ऐसा बोल रहे तो दीपिकायां तो दीपिका में ऐसा कहा है धातु नाम अर्थत्व है ना धातु का अनेक अर्थ होता है इसलिए विषद धातु का अर्थ आशित यह अर्थ करते हैं तो नान्य किंजन आशित अर्थ होता तद एवं अर्थ उस वाक्य का अर्थ ऐसा आएगा दीपिका के आधार पर अर्थ करें तो ऐसा आएगा अर्थ इदम आदम न इदम आकार बन जाएगी इनके जगह में इदम जगत अग्रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मैव आशीत यह आता है इसका दीपिकाकार के आधार पर ऐसा है इस प्रकार था ये जो जगत है इदम जगत इदम जगत अग्रे माने सृष्टि प्राप्त सृष्टि के पहले अवस्था में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा एवं आशीत सजा स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित आत्मा ही था ऐसा होगा के का कहा अनैन ऐसा अर्थ करने से क्या इसके द्वारा नो अद्वितीय आत्मा अद्वितीय सिद्ध हो जाएगा अच्छा। जगत तथा विदम आत्मा प्रदय मृषा पहुंचा सृष्टि के पहले में आत्मा से अतिरिक्त नहीं था कहने पर क्या सिद्ध आ जाएगा जगत तथा विदम आत्मात्र उसी प्रकार अव्यय आत्मा मात्र होने से जगत में वृषात्व तो दो बातें आ जाएगी आत्मा में तीर्थ सिद्ध हो जाएगा और जगत में वृषात्व सिद्ध होगा ऐसा हो जाएगा अनैन अग्रे जगत आत्मात्र रूपते न किंचित प्रयोजनम आत्मा एक एवं आश्रित नान्य किंचन इतापता अपनी सिद्धे की आशंका निरस्त कहते ऐसा अर्थ करने पर यह शंका निरस्त हो गई कहते कोई शंका करे क्या अग्रे अग्रे जगत जगत के सृष्टि के पूर्व काल में जगत सृष्टि के पूर्व काल में आत्मात्र तो होते आत्मात्र कह दिया एकम एवं नान्य किंचन आशित बोला हुआ है अच्छा तो आत्मा तो न किंचित प्रयोजनम अन्य कोई प्रयोजन नहीं आएगा आत्मा एक आश्रित न किंचन इति यथापता अखंडत्व सिद्धि अखंडत्व सिद्धि तो इतने से हो जाता आत्मा ही था अन्य कुछ नहीं था इतना कहने से काम चलता इति आशंका है शंका निरस्त हो गई क्यों आत्मा अखंड था दूसरा जगत मिथ्या भी सिद्ध हो जाता ऐसा कहने का इसलिए यह शंका खंडित हो जाती है केवल आत्मा ही था कहने में तात्पर्य जगत मिथ्या जगत में विषाक्त तो घोषित भी करना है क्योंकि जगत उस काल में आत्मा से अतिरिक्त नहीं था माने अभी है तो मृषा है वो पहले नहीं था अभी दिखता तो मृषा है ये दो बातें सिद्ध हो जाती है ऐसे दीपिकाकार ने कहा है आत्मा में अखंडता सिद्ध हो जाती है और जगत में मृषात्व सिद्ध होती है ऐसा कहा यह शंका भी निरस्त हो गई कहा आगे टीका भी कहते हैं जगत वृषात्व सोचना ऐसे भी प्रयोजन इस वाक्य का प्रयोजन क्या है आत्मा एक था वो कहा तो है ही है दूसरा जगत में को सूचित करना भी यह प्रयोजन है जगह झूठा है मिथ्या है यह सूचित करना भी प्रयोजन है पहले जब एक ही आत्मा ही था अभी है इसके मतलब अभी भी नहीं है ये सिद्ध होना है यह प्रयोजन है ऐसा कहा है न तो एवं अर्थभेदे वाक्य में जैसे पूर्वादी बोले महाराज दो अर्थ करेंगे एक वाक्य का आत्मा भाई दिमाग एक अग्रे आशित नान्य केंद्र में सबका ऐसा अर्थ करेंगे एक माने आत्मा ही था जगत एक है तो आत्मा में अद्वय सिद्ध तो होना और जगत में तो दो दो वाक्य करेंगे तो वाक्य भेद अर्थ होगा और एक ही वाक्य बनाने से तात्पर्य निकलता तो वाक्य भेद करना दोष माना हुआ है तो गुरुवादी शंका करेगा कि न तो जगन हाँ, न तो अर्थ न एवं अर्थवेद इस प्रकार से आपने दो अर्थ बता दिया वाक्य का आत्मा अद्वैत से था यह सिद्ध होगा जगत में वृषात्व सिद्ध होगा दो अर्थ करने पर वाक्य भेदे वाक्य भेद से अतिथि न बाध्य ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्यों अखंडत्व तो संभावनार्थम एवं जगत अनिर्वचित्व इदम जगत अखंडात्मा इति विशिष्ट विशेषण तत्व ये जो आत्मा में अखंडता की संभावना सिद्धि करनी है निश्चय नहीं हुआ है आत्मा अखंड एक सिद्ध करना सिद्ध हुआ नहीं है संभावना सिद्धि है संभावना करना है अखंडत्व संभावनार्थम एवं या आत्मा एवं इदमग्रे आशित है संभावना सिद्धि है अखंडत्व संभावनार्थम एवं अखंडत्व संभावना के सिद्धि के लिए ही जगत अनिर्वचनीयत्व इदम जगत माने जगत अनिर्वचनीयत्व ये संभावना सिद्धि के लिए जगत लगा है विशेषण लगा है जगत में अनिर्वचनता सिद्ध करना है तभी आत्मा में अखंडत्व संभव होगा अगर जगत में अनिर्वचनीयता नहीं आएगा सिद्ध हो जगत सिद्ध होगा तो अनिर्वचित आत्मा में अखंड सिद्ध नहीं होगा या आत्मा के अखंडत्व की संभावना करेगा उस काल अखंडत्व सिद्धि के लिए कि क्या करना चाहते हैं जगत अनिर्वचनत्व इदम जगत आत्मा जाए इसलिए इदम जगत करके बोला जगत में अनिर्वचनता दिखा करके अनिर्वचन मिथ्या मिथ्या दिखा करके आत्मा में अखंडता सिद्धि के लिए जगत पद का प्रयोग कर दिया एक विशिष्ट विशेष देश उत्तर मैंने जगत को विशेषण बनाया इदम आत्मैव आशित इदम को विशेषण बनाया है कहीं ऐदम बात होगा कहीं इदम होगा बात एक ही है ऐदम होगा तो इदम से भाव ऐदम इदम संबंधी को ऐदम बोलेंगे अच्छा हाँ? विशिष्ट बेषेण उत्तत्व बेषेण विशिष्ट माने विशेषण रूप से कहा है यहां जगत को विशेषण बनाया इदम आत्मैव आशित इदम जगत आत्मैव आशित आत्मा को विशेष बनाया जगत को विशेषण बनाया ये कहा विशिष्ट वैषण दो नंबर टिप्पणी में कहा विशिष्ट रूपेण जगत विशेषण बना करके जगत विशिष्ट आत्मा दिखाया अनिर्वती ने जगत विशिष्ट आत्मा को दिखाया अनिर्मिथ्या जगत विशिष्ट आत्मा को दिखाया सृष्टि के पूर्व काल इदम शब्द है विशिष्ट उक्ति द्वारा ही दिया विशिष्ट उक्ति विशेषण शहीद को विशिष्ट बोलते हैं विशिष्ट उक्ति से कहा है इदम आत्मा इदम मानी जगत है वो आत्मा ऐसा कहा विशेषणा नाम से अर्थात सिद्ध जो विशेषण हो जाता है अर्थ से सिद्ध जो विशिष्ट आ गया तो विशिष्ट में विशेषण तो रहेगा ही बोलना नहीं पड़ेगा अर्थ से सिद्ध हो जाएगा जो विशिष्ट बोल देंगे किसी न किसी से विशिष्ट है जो जिससे विशिष्ट होगा विशेषण है नाम से अर्थात सिद्ध है विशेषण तो अर्थ से सिद्ध होने से जैसे सोमेन यजेत इत्यत्र सोमेन यजेत ऐसा वाक्य आया वहां सोम को विशेषण बनाया यज्ञ करना है कोई द्रव्य से यज्ञ करना है घृतादि जो भी द्रव्य होगा यज्ञ करना है कौन से द्रव्य से करना है तो सोम रूप जो द्रव्य उसे यज्ञ करना है या सोम को विशेषण बनाया होगा ये कहा जब यजेत तो बोलेंगे तो ना किससे करना है तो सोम है अनेक द्रव्य होंगे यजन के लिए कौन सा द्रव्य को प्रयोग करना है तो विशेषण है सोम यही है सोमे नहीं देता इत्यादि अर्थात सिद्धे तीन की टिप्पणी कहा विशिष्ट अन्यथा अनुपत्य यदि विशेषण नहीं होगा तो विशिष्ट नहीं बनेगा विशिष्ट कहेंगे तो विशेषण जरूर है सोमो नाम द्रव्यम भवती एक सोम नाम का द्रव्य होता है लता है द्रव्य है वो सोमो नाम तेरह ये देता अर्थ है सोमे नहीं देता का अर्थ सोमरूप द्रव्य से याद करें यह अर्थ होता है माने याद के साधन अनेक द्रव्य हैं घृत है दुग्ध है पय आदि बहुत साधन है कौन से क्या कौन से द्रव्य से याद कर रहा है सोम से कर ऐसा बोल विशेषण इतम विशेषण बोधने ऐसा विशेषण बोध होने पर वाक्य से पृथक व्यापार मंत्र नहीं दिया फिर वाक्य में अन्य व्यापार करना नहीं पड़ेगा दो व्यापार नहीं एक ही व्यापार से काम चलेगा ये कहा आगे कहते हैं अर्थद्वयस्यापी सूचितत्वाद दोनों अर्थ यहां सूचित है जगत को मिथ्या घोषित करना भी सिद्ध है ये जो आत्मा वही इदम एक अग्रे आशित से इदम कहा और आत्मा कहा तो यहाँ आत्मा में अखंड एक रस्ता सिद्ध करना भी ये वाक्य का तात्पर्य होता है जगत को मिथ्या घोषित करना भी तात्पर्य होता है इस अर्थद्वयस्यापी सूचित दोनों अर्थ का सूचित है इसमें जगत में मिथ्यात्व सूचित हुआ मैंने सिद्ध नहीं हुआ सूचित हुआ है इस पद के द्वारा इदम पद है वहां और आत्मा निर्विशेष अखंड है सूचित हुआ है अर्थद्वेश्या भी सूचित सूचित होने से सूचितत्वादेव सूचित होने से अंत्य भी यहां आखिर में यही वाक्य आएगा यहां भी इस उपनिषद में भी यहां भी आएगा कि अंत्य भी इसके अंत में तस् तस्या नहीं है तस् तस् त्रय आवश्य था उसके निवास स्थान तीन है कहते हैं उस आत्मा का निवास स्थान तीन है जागृत स्वप्न सुसुप्ति कभी जागृत में बैठता है निवास स्थान तीन घर है उसका कभी जागृत में है कभी स्वप्न में है कभी सुसुप्ति में तीन रहने का स्थान है ऐसा बताया आत्मा का तस् त्रय आवश्य था ऐसा बोलेंगे आगे तस्य मैंने ना त्रय आवश्य था माने जो इस प्रविष्ट हुआ आत्मा की चर्चा है वहां यहां से प्रविष्ट हुआ जो सीमानंद विराज है सीमा से विराजन करके प्रविष्ट हुआ आत्मा के तीन स्थान है जो यहां आकर के बैठा हुआ परमात्मा रूप में बैठा हुआ इसका तीन स्थान है स्थान त्रय आवश्यकता तीन स्थान है त्रय स्वप्न किंतु तीनों स्थान स्वप्न मिथ्या है जागृत भी मिथ्या है स्वप्न भी मिथ्या है सुसुप्ति भी मिथ्या है इसमें जहां यह अभी घूम रहा है सब मिथ्या ऐसे कह दिया है तीनों को स्वप्न बताते स्वप्न तो मिथ्या होता है सब जानते ही है तो जागृत को भी ऐसे दिया त्रय स्वप्न तीन इसके स्थान है ये जीवात्मा मन के घूम रहा अभी जो इस शरीर में आने के बाद जीवात्मा बना हुआ है तो ये तीन स्थान है तीन घर है इसका जागृत घर स्वप्न घर सुसुप्ति घर किंतु तो तीनों के तीनों मिथ्या है त्रयो स्वप्न त्रय स्वप्न तीनों स्वप्न है स्वप्न मिथ्या है उसी को दृष्टांति का तीनों स्वप्न है ऐसा बोला बोलेंगे आगे इसी में कहेंगे आगे माने इसी प्रथम खंड के तृतीय प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के तेरहवें मंत्र में कहेंगे त्रयोदश मंत्र में बताएंगे ऐसा त्रय स्वप्न ऐसा बोलेंगे बारहवें मंत्र में बताएंगे यदि जागृत आदि स्वप्नत्व मृषात्मक हुआ जागृत आदि को स्वप्न रूप से मृषा कहा स्वप्न शब्द से कह दिया है झूठा ही कहा है तो इसको प्रपंच को सिद्ध करेंगे जैसे अभी यहां इदम जगत आत्मैव कहा हुआ है प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ है उसी प्रकार आगे भी ऐसे आता जागृत आदमी स्वप्न घोषित हो जाएंगे मिथ्या घोषित हो जाएंगे ये कहा मुक्त और उसके बाद में जब इतना कहने के बाद में फिर उसकी उन्नति कैसी होगी वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा कहते हैं कालांतर में उसने उसी अपने स्वरूप को देखा जब किसी भाग्योदय हो पुण्योदय हो गया उसको गुरु मिल गए गुरु ने उपदेश के दिया तत्वसी तो आदि जो भी प्रज्ञान ब्रह्म आदि उपदेश दिया हाँ, तू आड़ मानस का पुतला नहीं है तू सच्चिदान आत्मा है इसे बता दिया बताने पर क्या हुआ फिर कहते हैं आगे उसने क्या देखा जो शरीर को शरीर में घूमने वाला बना था उसी को आगे बोलते हैं स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत ऐसा वाक्य आएगा तेरहवें मंत्र का आएगा इसी प्रथम अध्याय तृतीय खंड त्रयोदश मंत्र आएगा स माने जो प्रविष्ट हुआ था शरीर भाव में आके जीवत्व का अनुभव करके चल रहा था जागृत स्वप्न सुसुप्त में घूम रहा था कालांतर में उसको पुण्यकर्म उदय हो गया किसी महापुरुष मिल गए उसको उपदेश मिला तो कि हरमांस का पुतला नहीं है तू सच्चिदान आत्मा है ऐसा उपदेश हो गया उसके बाद उसने उसी ब्रह्म रूप में देखा तो विस्तृत ब्रह्म रूप में अपने देखा परिचन्न रूप में मानता था अंतकर्म विशिष्ट करके मान रहा था अब उसी को अपना विस्तृत रूप में समझा ये कहना चाहते हैं स हमारे वो जो शरीर में प्रविष्ट आत्मा है उसने जो तीन शरीर में घूम रहा था तीनों स्वप्न शरीर में घूमने वाला था उसी में कालांतर में ऐसा हुआ एतम एवं इसी पुरुष को ब्रह्म ततमम अपश्यत ये ततमम में तततमम पाठ है एक प्रकार लुप्त है छांदस प्रयोग है तत शब्द से तत का विस्तृत होता है फिर तमप लगाने से अति विस्तृत तत शब्द से तबप अतिशाय में विष्ट तततमम ऐसा होना था एक प्रकार छांदस लुप्त है छांदस प्रयोग ऐसा बताएंगे इत्यादि सामान अधिकरण इत्यादि आत्म शब्द उत्तम तततमत्व इत्यादि आत्म शब्द से कहा हुआ है उसी को तततमत्व शब्द से देखा विस्तृत शब्द से व्यापक शब्द से देखेगा यहां आत्मा वही बोला हुआ है वहां ऐसे शब्द से तत्तम शब्द से जाने जाएगा उत्तम तत्तमत्व त्रिविध परिच्छेद आयतम वह आत्म शब्द से कहा गया जो तत्तमत्व व्यापकता है त्रिविध परिचय से रहित रूप से समझेगा देश काल वस्तु परिचिन्न घेरे में नहीं समझेगा सभी देश में अपने शब्द समझेगा सभी काल में समझेगा सभी वस्तु में समझेगा ऐसा मान सभी देश में होने वाला होता है उसको अत्यंत अभाव का अभाव नहीं होगा इस देश में उस देश में नहीं है उसको देश परिचन्न बोलते हैं अत्यंत अभाव प्रतियुक्त देश देश परिचन्न को इस देश में उस देश में देश परिचिन्न है वो उसी में अत्यंत अभाव का प्रतियोगित्व आता है प्राग अभाव ध्वंसाभाव प्रतियोगित्व काल परिचन्न को कभी हो कभी न हो वो काल के घेरे में पड़ गया प्राग अभाव के प्रतियोगी कभी होता है कभी होता है पहले नहीं होता प्रध्वंसाभाव पृथ्वी वही घट है कभी होता है कालांतर में नहीं होगा तो काल परिचिन्न तो है उसमें प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अन्यतर प्रतियोगित्व काल परिचिन्न वस्तु परिचिन्न तो होता है अन्यन्याभाव प्रतियोगित्व वस्तु परिचिन्न यह यह नहीं बोला जाता है वस्तु परिचिन्न होता है अन्यन्याभाव किंतु आत्मा में भाव नहीं आता है क्यों सभी में है सभी में अनुगत है अस्थिभाती रूप से सभी में अनुगत है आत्मा में किसी का अन्य अभाव नहीं आता आत्मा में किसी का अत्यंत अभाव आत्मा यहां है वहां नहीं है बोल नहीं सकते सभी देश में है उस काल में था इस काल में नहीं नहीं कर सभी काल में है अभी है आगे नहीं है नहीं बोल सकते भाव आने वाला भी नहीं है सभी काल में है सभी देश में है ऐसा सिद्ध हो जाएगा ये कहा ये कहते हैं त्रिवेद परिच्छेद राहित्य लक्षण अखंडत्व बक्षती ये जो अखंडत्व का अर्थ होता है त्रिविध परिच्छेद रहित कई अखंड बांधते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य वस्तु को अखंड बोलते हैं ये सिद्ध हो जाएगा आगे भी सिद्ध हो जाएगा अभी प्रथम मंत्र में जो बातें जिस तरह से कर रहे हैं आगे इसी के तृतीय खंड के द्वादश मंत्र और त्रयोदश मंत्र पढ़ेंगे तो ये बातें पुष्टि हो जाएगी ये कहा आगे कहेंगे श्रुति कहेगी आगे बक्षती श्रुति श्रुति स्वयं कहेगी आगे पूर्व पक्षी शंका करेगा इदम आत्मैव आशेत इति सामानाधिकरण्य न आत्मनो जगत वैशिष्टमेव प्रतीयते प्रतहीयते ने प्रतीयते ऐसा है आत्मैव आशीर कहा है जो आत्मैव आशीर वो आत्मा ही था कहने से क्या होता है इदम आत्मैव आशीर अर्थ है यहां मंत्र में यही है आत्मा भाई इदम अग्रे आशित सृष्टि के पहले इदम जगत आत्मा ही आशित तो यहां पर इदम का और आत्मा का सामानाधिकरण नहीं दिखाई पड़ता है किंतु इदम में मिथ्यात्व तो नहीं कहा सिद्ध होता है यहां इदम और आत्मा समानाधिकरण दिखाई दे रहा है प्रथमांत प्रथमांत है ये पूर्वादि की शंका होगी इदम आत्मैव आशित यदि सामानाधिकरण है ना दोनों प्रथमांत है समानाधिकरण इदम और आत्मा सामानाधिकरण होने से आत्मा और जगत वैशिष्ट प्रतीयते आत्मा में जगत ही वैशिष्ट जगत को विशेषण दिखाई पड़ता है आत्मा विशेष दिखाई पड़ता है जैसे नीलम से उत्पलन जो तो में सामान्य विकरण है यहां भी ऐसे दिखाई पड़ रहा है प्रथम अतिभक्ति है तो केवल यहाँ जगत विशिष्ट आत्मा वैशिष्ट आत्मा में दिखाई पड़ता है न तो जगतो वृषात्म इस मंत्र में तो जगत में वृषात्व माने मिथ्यापना तो नहीं भाजता है ये शंका पूर्वादि करे तो सिद्धांत न भाज्य ऐसा नहीं कहना क्यों आत्मा एक एव इति पदई आत्मा एक एव ऐसे पद दिया है आत्मा भई इदम एक एव अग्रे आशित नान्यत किंचन विषय तीन पद और भी तो देखना होगा वहां इदम और आत्मा के आगे एक एव नान्यत किंचन विषय इनको भी पढ़ना होगा यही सिद्धांत बोलते हैं आत्मा एव आशित आत्मा एक एव इति पदैव ये आत्मा कहा है और एक कहा है और एव कहा है इत्यादि पद के द्वारा उगते इति कहने पर अखंड रस जो अखंड रस की सिद्धि होगी एक एव ऐसा कहने पर अखंड एक रस की सिद्धि होगी अद्वैत की तब विपरीत जगत प्रतीत है उस काल में उससे आत्मा से एक एव आत्मा से अतिरिक्त जगत की जो प्रतीति हो प्रतीति को अतस्विन तद्वित ये होना ये वित्तीय सिद्ध हो जाएगा जो अखंड एक रस आत्मा है उसमें जगत की प्रतीति होना तो मिथ्या है अतस्विन तत्बुद्धि तो मिथ्या है जो वो नहीं है वहां वो बुद्धि होना जो सर्प नहीं है रज्जु उसमें सर्प बुद्धि होना ये तो मिथ्या मृषा है तो अतस्विन तत्बुद्धि रूपत्व मृषात्व सिद्धे जगत में मृषात्व की सिद्धि हो जाती है कहा जगत वैशिष्ट जगत वैशिष्ट तो अभी वर्तमान में भी है कहते सिद्धांत आत्मा में वर्तमान जगत मिथ्या है तो पहले वाले मिथ्या ही है जगत वैशिष्ट से घटासन जो बोलते हैं घटासन में सत विशेष्य है और घट विशेषण है जगत विशिष्ट सत्य है घट सत घट को विशेषण बनाया हुआ सत विशेष है घट विशिष्ट सत सत आत्मा है वो घटासन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्व है प्रत्यक्ष सिद्ध है तो फिर विशिष्ट रूप से तो इसके लिए फिर श्रुति में जाने की आवश्यकता ही क्या है अगर प्रत्येक ऐसी वस्तु होता तो सिद्ध प्रयोजनाभाव है इसके तत्प्रतिपादन से अनुपत्ति दूसरा प्रतिपाद आत्मा वैदमय का अग्रे आशित इसका प्रतिपादन व्यर्थ पड़ जाएगा इसलिए मृषात्व में वो तदर्थ है इसलिए क्या होगा जगत मृषा ही है इसी हो गया इति अनैना स्वातंत्र निषेध है पद के द्वारा क्या किया स्वतंत्रता की सत सत्ता की निषेध किया है माने सृष्टि के पहले अन्य कुछ नहीं था यह अर्थ नहीं था माया तो है किंतु स्वतंत्र सत्ता वाले वस्तु नहीं था यह कहना है निषद जाने ना स्वातंत्र निषेध है ना स्वतः सत्ता निषेधात स्वतः सत्ता की निषेध करने से वृषात्व सिद्ध जो तो की स्वतः सत्ता नहीं तो वो झूठा ही होता वृषा ही होता है वो मिथ्या ही होता है जिसकी स्वयं सत्ता न हो वो वस्तु मिथ्या ही होता है सिद्ध हो जाता है स्वतः सत्ता सत्तावत्व है स्वातंत्र से अगर स्वतः सत्तावान हो तो अपने व्यापार में स्वतंत्र होना चाहिए माया में अपने व्यापार में स्वतंत्रता नहीं है वो शक्ति है शक्तिमान के अधीन होकर के व्यापार होना है उसमें शक्ति में हाथ में उठाने की शक्ति है किंतु शक्ति अपने आप काम नहीं करेगी ये हाथ अगर काम उठाएगा चाहेगा तब शक्ति काम करेगी अच्छा अनेन प्रकार ईरान में पुरुषात्व से आत्माखंड से वक्तुम सत्यवाद अग्रे विशेषण व्यर्थम की कहते हैं महाराज फिर तो ये वैशिष्ट रूप से ही निरूपण करना था तो इसी समय भी कर सकते थे घटासन पटासन मठासन में जगत विशेष रूप से आत्मा के प्रति सब रूप से हो ही रहा है तो यही दिखा दे सृष्टि के पूर्व काल में क्यों जाना ये शंका कोई करे वो शंका नहीं कर सकता तो, तो अनैन इस प्रकार से अनैन प्रकार में ईरान में मृषात्व से यहां तो इस समय भी जगत में मृषात्व सिद्ध कर सकते हैं घटासन पटासन मठासन में विशिष्ट दिख रहा है विशेषण विशिष्ट है अच्छा आत्मा अखंड आत्मा का अखंडता भी सिद्ध हो जाएगी इस रूप से सुख सत्ता वाला नहीं है अभी भी तो भक्तुम शक्य तो ऐसे कहा जा सकता था फिर अग्रे विशेषण दर्शन फिर अग्रे विशेषण क्यों लगाया आत्मा भाई अग्रे अग्रे विशेषण व्यर्थ हो जाएगा ये शंका करे कहते अग्रे विशेषण भी व्यर्थ नहीं है कहते विशेषण व्यर्थ नहीं है सिद्धांत करे क्यों इधानीम आत्मा भिन्नतया पृथक सत्वेन प्रतिमान इस समय में देखो आत्मा से भिन्न रूप से प्रतीत है जगत पृथक सत्य अतिरिक्त सत्ता दिख रही जगत की घट पट मठ अलग दिख रहा है आत्मा रूप में नहीं दिख रहा है आत्मा से अतिरिक्त रूप से दिख रहा है इस समय में किंतु उस समय में आत्मा से अतिरिक्त नहीं दिख रहा इसलिए अग्रे विशेषण भी साफ है इधानीम आत्मा भिन्नतया आत्मा से भिन्न होने से पृथक सत्य उसके अस्तित्व पृथक दिख रहा है घटा पटा मठा चटा ऐसे दिख रहा है पृथक सत्य एक तो भिन्न रूप से प्रतिमान है और पृथक सत्ता रूप से प्रतिमान है मन से तस्य सहसा आत्ममात्र बोधित है एकाएक आत्मा आत्मा बोलेंगे उस इस काल में तो क्या होगा विरोधी प्रतीतिया विरोधी प्रतीति हो रही विरोधी ज्ञान हो रहा है कि नहीं आत्मा से अतिरिक्त है दिखाई दिखाई दे रहा है अतिरिक्त सत्ता दिखाई पड़ती है विरोधी प्रतीतिया तस्य बुद्धि अनारोह फिर वो जो मृषात्व का बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा मृषात्व आरूढ़ हो नहीं पाएगा यहां तो प्रत्यक्षा प्रमाण से अलग दिख रहा है तस्य माने मृषात्व बुद्धि अनारोह यदि गूढ़ जिहिवा न्याय एक जीवा में गुड़ डालेंगे स्वाद का अनुभव करेगा अभिव्यक्त नहीं कर सकता इसलिए नाम रूप अभिव्यक्ति के पूर्व अवस्था में बताया जा रहा है गुड़ जीव का न्याय वो गुड़ डाला हुआ है स्वाद का पता है किंतु तो बोल नहीं पाता कैसा स्वाद है कुछ नहीं स्वाद का पता नहीं पता बता सकता गुड़ खिलाए तब भी बोलेगा मीठा एक ही मीठा पद बोल देगा चीनी भी मीठा मिश्री भी मीठा शहद भी मीठा किंतु तो अंतर होता है सबके स्वाद में अंतर है अंतर नहीं बता सकता उसमें गुरु जी का न्याय बोलते इसी प्रकार जिसमें स्पष्ट रूप नहीं हो रहा है अस्पष्ट रूप हो रहा है इस सृष्टि के पूर्व अवस्था में एक है कि भिन्न है पता नहीं लगा अभी तो भिन्न है पता लगता है इसलिए वहां दिखाया अग्रे पद लगाया कहते हैं गुड़ जी होगा न्याय न आदव प्रथम नाम रूप अनभिव्यक्त दशाया सृष्टि के पूर्वावस्था में इसके नाम रूप प्राप्त नहीं किया था अभिव्यक्त नहीं हुआ था आकार नाम प्राप्त होने से पूर्वावस्था में आत्मा मात्र तो बोलते उस काल में आत्मा मात्र कहा गया है अभी तो आत्मा भिन्न रूप से दिख रहा है तस्वीर बोधित ऐसे उस काल में बोधित ज्ञान कराने पर पश्चात तत् न्याय न ईरानी अपनी स्वयं आत्मात्र ज्ञास्यति सृष्टि का तात्पर्य उस काल में संबोधित कर देने पर देखो मात्रा ये करके सृष्टि के पहले में जगत को बोल देने पर आगे सृष्टि काल में भी वही समझेगा ये कहना चाहते हैं तस्मिन बोधित उस काल में आत्ममात्र बोधित कर देने पर पश्चात तन न्याय वही युक्ति से जब उस काल में आत्ममात्र सतमात्र सिद्ध हुआ वो सतमात्र अभी भी करेगा न्याय ना ईरानी अभी सृष्टि काल में भी इधानी भी स्वयं आत्ममात्र आत्मात्र सृष्टि प्राक कार्य से अनुगत हाँ। स्वयमेव आत्ममात्र ज्ञासी दे स्वयं भी आत्मात्र ही समझेगा जब पहले आत्ममात्र ही था अभी भी आत्मात्र ही समझेगा कोई सती है अभी भी समझेगा पहले सतमात्र ही था अभी भी सतमात्र ही समझेगा यदि अभिप्राय विशेषण उत्पत्ति इस अभिप्राय से विशेषण अग्रे विशेषण सिद्ध हो जाता है तन्याय न चार किट में कहा सदृष्टान्त है ना जो सत दृष्टांत उस समय सती था जब सृष्टि के पूर्व काल में तो अभी भी सती है ये जा, जान जाएगा उस काल के सब को दृष्टांत गया जब उस काल में सत था जगत नाम की वस्तु नहीं सृष्टि के पहले तो अभी भी वैसा ही है समझेगा समय हो गया है फिर करेगा ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे पाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मलेभि देवस्य माणिस्तः श्रुतम् मे ममाप्रहाशीरणेनाधीतेनाहोरान् सन्तदामि अवतु अवतु भवता भगवता